पश्यन्ना सर्वमिदम विभाति भाति विभाति प्रथम एक जानिया किमु भाति विभाति ये बात मैं कैसे जानू यह विज्ञान कैसे हो गए कि वो स्वयं रूप है कि सर्वात्मा गोविंद संसार में कोई वस्तु दिखती है तो वो चैतन्य के द्वारा ही प्रकाशित ये कहो कि नहीं घड़ी तो हम बिजली की रोशनी में देखते हैं तो देखो घड़ी दिख रही है बिजली की रोशनी में दिख रही है ठीक है परंतु आख से दिख रही है और आख से देखने वाला मैं हूं जितनी भी वस्तु अनुभव में आती है वो चैतन्य पर्यवसायी होती है और ये सृष्टि का नियम है ये मर्यादा है ये स्वभाव है वस्तुनी सर्वान निखिला है किंचित समाश्रित विभाग की वस्तु ये घड़ी है ये किसको मालूम पड़ता है क्या घड़ी को मालूम पड़ता है कथा घड़ी को मालूम पड़े परंतु घड़ी को मालूम पड़ता है ये किसको मालूम पड़ता है एक कोटि दो कोटी भी ये बात नहीं कर सकते कथा सूर्य घड़ी को प्रकाशित कर रहा है तो क्या सूर्य को ये मालूम पड़ता है कि मैं घड़ी को प्रकाशित कर रहा हूँ अच्छा मान लो कि मालूम पड़ता है तो सूर्य को मालूम पड़ता है ये किसको मालूम पड़ रहा है, है? तो ये पुस्तक है ये सबको मालूम पड़ रही है स्त्रियां भी देख रही हैं पुरुष भी देख रहे हैं कुमारियां भी देख रहे हैं कुमार भी देख रहे हैं यहाँ चिड़िया हो तो वो भी देख रही होगी कि कोई चीज है कुछ ऐसा तो उसको भी भाजेगा ना कि कुछ है सबका सामान्य तो सबको ही भाजेगा एक पशु हो ये नोट जो है नोट ये अपने देश का होगा ना तब तो अधिकांश लोग उससे परिचित होते हैं और दूसरे देश का हो दूसरी भाषा में सटा हो तो क्या मालूम पड़ेगा कि कितने का है सच्चा है कि नहीं है क्या मालूम पड़ेगा लेकिन गधा दोनों लोग खा जाता है एक बार ऐसा देखने में आया कि राजस्थान में कोई शेष दस हजार रूपये का नोट लेके कहीं जा रहे तो अपना झोला रख दिया तो उतरे पर और स्वयं पानी पीने लगे प्याऊ पर तब तक गड्ढा आया दस हजार का नोट खा गया तो वो खाने की चीज है ये बात तो मालूम पड़ी गड्ढे को लेकिन नोट है ये मालूम नहीं पड़ा है? तो संसार की जो वस्तुएं मालूम पड़ती हैं उनके संबंध में आपको मालूम पड़ना चाहिए कि मालूम पड़ने की जो आखिरी सीढ़ी है वो अपने में आवेगी स्त्री को मालूम पड़ता पुरुष को मालूम पड़ता गधे को मालूम पड़ता चिड़िया को मालूम पड़ता देवता दानी को मालूम पड़ता ईश्वर को मालूम पड़ता और सबके तो बात ही छोड़ दो तो ईश्वर इस दुनिया को देख रहा है कि तो ये बात किसको मालूम पड़ रही है बोले तुमको मालूम पड़ रही है तो ऐसा तो तुमको मालूम पड़ रही है ये किसको मालूम पड़ रहा है घूम फिर के अंत में ये बात मैं पर पहुंचती है द्रव्याणी सर्वाणी निखिला प्रकृतिया किंचित समाश्रित विभांति वस्तु अब सोचो किसको भागती हैं ये सब चीजें वो कौन है भाई देखो तुम्हें सेवा करनी हो तो सेवा करो है ना पढ़ाना हो तो पढ़ाओ और भोजन बनाना हो तो भोजन बनाओ भोग करना हो तो करो धन कमाना हो धन कमाओ तुम्हारी व्यक्तिगत रुचि में व्यक्तिगत प्रवृत्ति में तुम्हारी व्यक्तिगत क्रिया में व्यक्तिगत संपत्ति में कोई हस्तक्षेप नहीं है न जातिगत न व्यक्तिगत न व्यक्ति में न समझ लेकिन अगर तुम ब्रह्म विद्या के जिज्ञासु बन के आओगे कि हम तो ब्रह्म को जानना चाहते हैं है? हम तो अनंत को जानना चाहते हैं हमको अपरिचित को जानना वस्तु पर से तुम्हारी दृष्टि को खींच के अंतर्मुख करना ही पड़ेगा अगर तुम ब्रह्मा को भी महत्वपूर्ण व्यक्ति समझोगे और अपने से अन्य ईश्वर को भी महत्वपूर्ण व्यक्ति समझोगे तो ईश्वर को जानने वाले का साक्षात्कार नहीं हो सकेगा जो ईश्वर को जानता है जो ईश्वर को मानता है उसको प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ईश्वर तत्व का साक्षात्कार नहीं हो सकेगा वो अलग से ईश्वर को भले देखता रहे लेकिन जो अनंत है ब्रह्म है अद्वितीय है उसका साक्षात्कार नहीं हो सकेगा तो ब्रह्म विद्या की एक प्रणाली है कि यदि आप इसमें चलना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ आत्मदर्शन आत्मदर्शन करें देश बड़ा महत्वपूर्ण वस्तु है बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है देश परंतु आत्मदर्शन जो है वो दूसरी चीज है और देश का महत्व दूसरी चीज है समय बड़ी बड़ा कीमती है परंतु आत्मदर्शन के लिए उसको नष्ट करना पड़ता है स्थान देश बड़ा कीमती है परंतु आत्मदर्शन के लिए आत्मदर्शन के लिए उधर से दृष्टि हटानी पड़ती है सत्कर्म सद्भावना सद विचार है ना योग की समाधि अन्य रूप से परमेश्वर बड़ी महत्वपूर्ण वस्तु है यदि आपकी उसमें रुचि हो तो आप उसके लिए अपना जीवन अर्पण कर दें लेकिन के बोध जो है वो दूसरी वस्तु है आप क्या सचमुच मार्ग में चलना चाहते हैं तो घट का ज्ञान पट का ज्ञान मठ का ज्ञान मेज का ज्ञान कुर्सी का ज्ञान घड़ी का ज्ञान सूर्य का ज्ञान चंद्रमा का ज्ञान व्यस्ति का ज्ञान समस्ती का ज्ञान देवता का ज्ञान ब्रह्मा का ज्ञान अन्य रूप से ईश्वर का ज्ञान ये सब किसको हो रहे हैं किंचित समाश्रित्य विभांति वस्तु किसी ज्ञान का आश्रय लेकर के ये सबके सब भान हो रहे हैं कन्मार गणेश गलितम समस्तम जिसको इनका भान हो रहा है यदि उसको ढूंढना चाहोगे और तो तुम अनुसंधान करोगे वो दूसरी स्थिति है और वो दूसरा विभाग ही बिल्कुल दूसरा है यदि उसको ढूंढोगे तो संपूर्ण भेद बुद्धि का नाश हो जाएगा ये अपना ये पराया ये देश ये विदेश ये समाधि काल ये विक्षेप काल ये समस्ती समझ लो अंग्रेजों को भारत भारत से हटाने के लिए आंदोलन हो रहा लोगों ने कहा महात्मा गांधी बहुत बड़े महात्मा गांधी बहुत बड़े जो काम करते हैं जो ब्रिटिश शासन को हटाना चाहते हैं वही सबको करना चाहिए सब साधुओं को भी लग जाना चाहिए बोले जोगी अरविंद को अपनी साधना छोड़ के उसमें लग जाना चाहिए रमन महर्षि को अपनी जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख छोड़ करके उसमें लग जाना चाहिए है? उड़िया बाबा को उसमें लग जाना चाहिए ब्रह्म प्रकाश जी को उसमें लग जाना चाहिए तपोवन जी को उसमें लग जाना चाहिए हैं? माने ब्रिटिश तो हट जाएंगे लेकिन जो भारतीय संस्कृति का मूल है आध्यात्मिक अनुभूति जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख ब्रह्मात्मैक्य बोध जब उसी की परंपरा टूट जाएगी जब देश में कोई ब्रह्म बेचते ही नहीं रहेगा ब्राह्मण्य से ही रक्षण है ना रक्षित वैदिको धर्म जब ब्रह्म बेचता रहेगा तब वैदिक धर्म की रक्षा होगी वैदिक धर्म की रक्षा होगी तो भारतीयता रहेगी और यदि ब्रह्मवेदता ही नहीं रहा वैदिकता ही नहीं रही भारतीयता ही नहीं रही तो शासन सूत्र है ना क्या झगरू मगरू के हाथ में रहा है और क्या नारायण किसी और के हाथ में रहा स्वतंत्रता स्वतंत्र कुमार स्वदेश कुमार के हाथ में रहा पंजाब में ऐसे नाम होते हो स्वदेश कुमार स्वतंत्र कुमार तो क्या जगरू मगरू के हाथ में रहा क्या स्वदेश कुमार स्वतंत्र कुमार के हाथ में रहा जब है न आत्मानुभूति की परंपरा ही नहीं रही तो क्या रहा तो अब आप इस बात को वेदांत की रीति को समझें वेदांत की रीति ये है इनका कहना ये है कि हमारी बुद्धि में जितने ज्ञान होते हैं वो बाहर की चीज को देख करके होते हैं वासना से भी होता इसी के बाहर की वस्तु की वासना होती है और वासना के अनुसार ज्ञान में वैचित्र होता है जानकारी में जो अलगाव होता है विचित्रता होती है वो वासना के अनुसार होती है किसी भी चीज को भिन्न भिन्न करने के लिए अलग अलग करने के लिए कि ये घड़ा इंद्रियों का विषय हो सकेगी तो जब इंद्रियों का विषय कभी नहीं हो सकेगी किसी इंद्रियों में इतना सामर्थ्य नहीं है तो उसकी वासना भी अंतकरण में नहीं आ सकेगी और जब वासना नहीं आ सकेगी तो बुद्धि में ब्रह्म का विज्ञान नहीं हो सकेगा तो जिस वस्तु की वासना इंद्रियों के अनुभव से नहीं आती है उस वस्तु की वासना केवल शब्द के द्वारा ही भीतर पहुंचाई जा सकती है और कोई उपाय नहीं है ये हम वेदांत के है ना वेदांत के सिद्धांत का आपको निरूपण कर रहे हैं इसका अभिप्राय यह है कि यंत्र के द्वारा अद्वितीय का ज्ञान नहीं होगा उसमें यंत्र और यंत्री मशीन से मशीन और मशीन से देखने वाला आदमी इन दोनों का बाध नहीं होगा ये सत्य बने रहेंगे तब जब ये दोनों सत्य बने रहेंगे तो ब्रह्म सत्य है ब्रह्म ही सत्य है ये ज्ञान नहीं होगा अद्वितीय ही सत्य है ये ज्ञान नहीं होगा तब नारायण एक ऐसी चीज जिसको हम आंख से नहीं देख सकते कान से नहीं सुन सकते नाक से है ना नाक से नहीं सुन सकते जीव से नहीं चख सकते त्वचा से नहीं छू सकते हैं जिस इनका संस्कार न होने के कारण इनके द्वारा आहित वासना न होने के कारण मन से जिसका ध्यान नहीं कर सकते है? और वासना नहीं होने के कारण बुद्धि से जिसको हम जान नहीं सकते जानेंगे तो तूल के बारे में जानेंगे या मूल के बारे में जानेंगे कार्य के बारे में जानेंगे या कारण के बारे में जानेंगे रूई को जानेंगे बिनौले को जानेंगे कपास को जानेंगे है ना लेकिन वो चैतन्य सत्ता जो अखंड भरपूर है वो यदि त्रिपुटी का विषय होती तो हम अन्य प्रमाण से भी उसको जान सकते इसलिए जब कोई आवे और कहे कि हमने साइंस से ब्रह्म को सिद्ध कर दिया है हमने मशीन से ब्रह्म को सिद्ध कर दिया है हमने तर्क से युक्ति से ब्रह्म को सिद्ध कर दिया है हमने बुद्धि से ब्रह्म को सिद्ध कर दिया है अरे हमने तो स्वयं ब्रह्म को देख लिया है तो समझना चाहिए कि इसने अपने बेटे को ही देखा होगा है ना? <clears throat> इसने अपने बेटे को ही देखा होगा इसने ब्रह्म को नहीं देखा होगा तो ब्रह्म को देखने के लिए नारायण तुम स्वयं ब्रह्म हो तो तुम्हारी सत्ता के सिवाय और कुछ है ही नहीं है साक्षात परोक्षात ब्रह्म तो वेदांत वाक्य के द्वारा बुद्धि में परिवर्तन इंद्रियों के अनुभव से या मन के ध्यान से जो होता है वो दूसरा है और वेदांत तो वाक्य से जो बुद्धि में परिवर्तन होता है वो दूसरी चीज है अब एक बात तर्क और युक्ति पर एक और प्रहार करके तब आगे चलते हो वेदांत दर्शन में सूत्र ही है तर्क प्रतिष्ठाना तर्क में प्रतिष्ठा नहीं है एक तर्क के बाद दूसरा तर्क दूसरे तर्क के बाद तीसरा तर्क आता है हाँ। और हमारे महावैयाकरण ने भर्तृहरि ने कहा कि यत्ने नानुमितोप्यर्थ कुशलैरनुमात्र अभिजुक्त तरई अन्यथई वो उपाद्य थे इसलिए एक आदमी खूब प्रयत्न करके तर्क करके युक्ति से एक बात सिद्ध करता है, है? लेकिन दूसरा तार्किक जब आता है तो ऐसी ऐसी तर्क ऐसी ऐसी युक्ति देता है कि वो सब का सब कट जाता है जो पुराने लोग हैं कभी कांग्रेस का अधिवेशन किसी ने देखा हो तो महाराज तीन तीन मिनट बोलते थे सत्यमूर्ति तीन मिनट बोलते हैं तो, और राजगोपालाचारी तीन मिनट बोलते हैं पांच मिनट बोलते हैं और मालवीय जी पांच मिनट बोलते हैं गांधी जी पांच मिनट बोलते हैं और सबके व्याख्यान में ताली बजती है और लोगों की बुद्धि का परिवर्तन हो जाता है एक एक युक्ति एक एक तर्क एक एक पहलू बात का ऐसा घुस के भीतर से निकाल के ले आवे कि पहले वाले की बात कट जाए वो बिल्कुल तो हम जानते हैं कि प्रपंच अनिर्वचनीय है इसमें तर्क से जो बात सिद्ध करोगे दूसरे तर्क से वो बात कट जाएगी है न इसमें प्रमाण के अधीन प्रमेय है न प्रमेय के अधीन प्रमाण है अनिर्वचनीय है वैसी स्थिति में वाक्य के सिवाय वेदांत वाक्य के सिवाय अद्वितीयता का साक्षात्कार करने के लिए क्योंकि अद्वितीयता आत्मा से अभिन्न होगी तब अद्वितीयता होगी अद्वितीयता भी यदि कोई परोक्ष हो दूसरे देश में कल्पित या दूसरे काल में आने वाली या दूसरी वस्तु के रूप में तो अद्वितीयता नहीं होगी क्योंकि ये काल अलग है वो काल अलग है ये देश अलग है वो देश अलग है ये वस्तु अलग है वो वस्तु अलग है मैं अलग हूँ वो अलग है इसलिए अद्वितीयता जो है वो सपने की तरह याद नहीं आती है वो वेदांत दर्शन में ये विचार किया है कि स्वप्न में और जागृत में कुछ भेद है कि नहीं तो बोले भेद है है ना वो कई कई सूत्र हैं एक साथ ही न भावो उपलब्धे वही आच न स्वप्नादिवत न भावो न न भावो है क्षणिक अनेक सूत्र हैं तो बोले कि अच्छा वैधर्म क्या है भेद क्या है स्वप्न और जागृत में भेद क्या है तो भेद ये बाधा बाधो इति प्रूमा स्वप्न जागृत अवस्था में याद आता है ना तो बाधित है नहीं है सपने की कोई चीज नहीं है ये ज्ञान है उसके प्रति मिथ्यात्व निश्चय है और जागृत के प्रति मिथ्यात्व निश्चय नहीं है तो असली जागृत क्या है का तो अपना ब्रह्म होना जो है वो असली जागृत है अबाध्य है, है और ये जिसको हम जागृत कहते हैं ये अधिष्ठान आत्म के बोध से स्वयं प्रकाश आत्मा के ज्ञान से बाधित है, जब जब अपनी देह रूपता भी याद आने लगे अरे कभी हम अपने को नारायण ब्राह्मण समझते थे कभी अपने को सन्यासी <laughs> समझते थे बाधित है हाँ कभी अपने को ब्राह्मण समझते थे कभी दंडी समझते थे कभी हिंदू समझते थे बाधित है अपने स्वरूप ज्ञान से स्वरूप ज्ञान से बाधित है ये तो देश काल वस्तु व्यक्ति जाति शक्ति आदि का विचार करके धर्माधर्म का निश्चय होता है वो जुदा चीज है और अपना ब्रह्मत्व जो है वो जुदा चीज है अब एक बात और रहे इसमें श्रद्धा की भी आवश्यकता है ये आप नहीं समझना ये जो लोग आपके हृदय से श्रद्धा को निकाल देते हैं अनुभूति होने पर श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है वो अनुभूति होने पर विश्वास की आवश्यकता नहीं है अधिष्ठान का ज्ञान होने पर स्वरूप का ज्ञान होने पर ब्रह्म का ज्ञान होने पर न श्रद्धा की जरूरत है न विश्वास की जरूरत है और वह अपना आपा साक्षात है परंतु उसके पहले थोड़ी श्रद्धा की भी जरूरत है जो आपके जिज्ञासु के हृदय से जो श्रद्धा को निकाल देता है वो साधन चतुष्टय में से समाधि सट संपत्ति का सत्यानाश कर देता है वो तो तुम्हारी साधना को ही चौपट कर देता है तो बोले नहीं हम जुक्ति तर्क की बात तो कह चुके ना अब जरा ये बोलो ये अपौरुषेय वेदवाणी बोले इस अपौरुषेय वेद वाणी पर श्रद्धा न करो तभी ब्रह्म ज्ञान करा दे बोले इसका नाम तो अतिशय श्रद्धा हुआ देखो हम लोग श्रद्धा के प्रसंग में ऐसे बोलते हैं कि नाम भगवान का ऐसी चीज है कि उसको मानो कि न मानो लेकिन बोलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा श्रद्धा करो कि मत करो नाम पर श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है नामोच्चारण मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बोले श्रद्धा का सबसे गाढ़ा रूप यही है कि नाम में हमारी श्रद्धा की जरूरत नहीं है यही श्रद्धा का गाढ़ा रूप है <clears throat> तो वेदांत विज्ञान में हमारी श्रद्धा काम नहीं करती <clears throat> वेदांत ही काम करता है ये तो श्रद्धा का सबसे गाढ़ा रूप है सबसे उत्कृष्ट रूप श्रद्धा का यही है अच्छा जी अब आओ आपको ये सुना है क्या नाम है हाँ तो वेद अपौरुषेय वाणी है क्यों बोले वेद को कोई बनाता नहीं वेद को कोई बनाता नहीं बोले कि तब वेद मालूम कैसे पड़ता है कि जो महात्मा लोग हैं मुनि लोग हैं ऋषि लोग हैं तो वे वेद के मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं है ना ये बात बोले भाई जिन्होंने साक्षात्कार किया वे महात्मा ही थे इसमें क्या प्रमाण है, है? मूल परंपरा से हमारी अनादि परंपरा से जिसको वेद मंत्र बोलते हैं वेद मंत्र बोलते हैं नहीं तो आज का महात्मा कोई कहे हमने ये मंत्र साक्षात्कार किया क्या हमको इस मंत्र का साक्षात्कार हुआ बहुत से मंत्र है ये तो अनादि है का इसका तो लोक हो गया था इसको तो हमने देखा है का क्या देखा है का अमुक मंत्र है हाँ तो वो बतावेंगे कि हमारे घर में जो सालग्राम की मूर्ति है है ना यही असली ईश्वर है बाकी सब झूठे हैं जो पूजा भेंट चढ़ानी हो वो हमारे घर वाले को ही चढ़ाना दूसरे को नहीं है ना ऐसी अनुभूति हो जाएगी हमारा तो तो अच्छा ये मंत्र अनादि परंपरा से प्राप्त है इसमें क्या प्रमाण है अनादि है इसकी परंपरा अनादि है इसमें क्या प्रमाण है क्या इसको महात्मा ने ही देखा है इसमें क्या प्रमाण है आप बिल्कुल सच समझो है ना असल में तत्व ज्ञान के बाद जिसको निष्ठा बोलते हैं ना निष्ठा उस निष्ठा के पूर्व रूप का नाम तत्व ज्ञान के उत्तर काल में जो निष्ठा शब्द वाच्य है वही तत्व ज्ञान के पूर्व श्रद्धा शब्द वाक्य है बिना देखे जब हम उसको मानते हैं तब श्रद्धा बोलते हैं और देख करके जब उसमें बैठते हैं तब उसका नाम निष्ठा होता है इसलिए श्रद्धत्व सौम्य वेदांत घोषणा करता है बेटा श्रद्धा करो वो तुम्हें विचलित करने के लिए जो लोग कहते हैं ना कि देखो तुम मानना मत हो हम तुमको दिखा देंगे अच्छा अब तुम क्या कर रहे हो अच्छा तुमने औरों को मानना तो छोड़ा लेकिन ये दिखा देंगे इस पर श्रद्धा कर रहे हो है? यही ना श्रद्धा ही तो कराई ना उसने दूसरों पर से श्रद्धा तोड़वाई अपने ऊपर श्रद्धा करवाई इतना ही तो हुआ ना एक एक कबीर आए बोले शंकर मत तो बहुत नीचे है और हाँ, हम देखो अलग अगम अरे ब्रह्म से तो सात कक्षा ऊपर हम दिखाते हैं तो वहाँ क्या है महाराज तो वहाँ बस कबीर साहब बैठे हुए हैं और मूर्ति कबीर साहब की है तो ठीक है बहुत बढ़िया कहीं राधा स्वामी कोई कहते हैं राधा स्वामी कहते हैं अपने अपने आचार्य को सब लोग सातवें आसमान में मानते हैं बोले दूसरे के आचार्य तो, तो बहुत नीचे हैं वो हमारे एक महात्मा थे वो कहते थे कि वेदांतियों की पहुंच तो शब्द में तो ओम तक है ओम बोलते थे ओम नहीं बोलते थे ओम बोलते थे और ये जो भगत लोग हैं इनकी पहुंच रारण तक है राम राम को रारण बोलते थे हाँ और ये ये ये जो वेदांति हैं इनकी पहुंच सोहंग तक है सोहंग तक ओम तक रारण तक सोहंग तक बोले ये कृष्ण जो है ये तो माया मंडल में बांसुरी बजाते रहते हैं और आप जानते हैं और जैसे हमारे संप्रदाय में माने वेदांत संप्रदाय में वेदांत संप्रदाय में ऐसा मानते हैं ना कि लोक लोकांतर जो हैं ये तो केवल प्रतिभास हैं देश में सिद्ध शिला है और काल में विज्ञान है, है? और काल में विज्ञान है और आकृतियों में ये सब साकार हैं साकार जितने हैं वो सब आकार हैं और रूप हैं है ना और स्थान जितने हैं वो सब देश में हैं और विज्ञान समाधि आदि जो है वो सब जितने हैं वो काल में और बाधित है जैसे अपने मानते हैं ना वो जो देखो जैन मत में मानते हैं कृष्ण की स्थिति कहाँ मानते हैं आपने सुना होगा कभी कृष्ण की स्थिति कहाँ मानते हैं राम की स्थिति कहाँ मानते हैं और बोलो छोड़ो जाने दो उस बात को ना अपने कहा है बोले तो ये जो पंथों में जो लड़ाई झगड़ा है ना इन संपूर्ण लड़ाई झगड़ा वैमनस्य द्वैत संपूर्ण संघर्ष को युद्ध को कटुता को समाप्त करने वाली अगर कोई वस्तु है, है तो नाम रूप के अभी हाथ नाम रूप के प्रकाशक है ना संपूर्ण देश काल वस्तु के वो समाधि काल भी आत्मा से ही प्रकाशित होता है है ना और वो वैकुंठ देश और वो कबीर स्वामी का देश वो राधा स्वामी का देश तो वो सब आत्मा से ही प्रकाशित होता है हैं? और वो सब आकृतियाँ चाहे वो कुल्ले मालिक की हों और चाहे सालग्राम शिला की हो एक ही आत्मा से प्रकाशित होती है ये राग द्वेष रहे है ना इसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं इसमें नीच ऊंच का भेद नहीं का इसमें ये महाराज जो लोग कुछ पा जाते हैं ना कोई पद मिल जाए कुछ पैसा मिल जाए तो ये बचा रहे है ना और और बढ़े इसकी वासना में ऐसे फंस जाते हैं ऐसे फंस जाते हैं कि यथार्थ सत्य जो है और अद्वितीय सत्य हम में तुम में इसमें उसमें सब में एक तरीका इस बात को भूल जाते हैं वो वस्तु हो न पत्र सूर्यो भाभी दुनिया की सब चीजें सूर्य के प्रकाश में दिखती हैं बोले वहाँ सूर्य का प्रकाश ही नहीं है जहाँ न सूरत जहाँ न मूरत पूरन धनी दिनेश सूरत बिरहुलिया छाई निज देश अपना आत्मा अपने स्वरूप में बैठा है वहाँ न सूरत है न मूरत है वहाँ स्वयं प्रकाश वस्तु है न रूप है न आंख है न सूर्य है सूर्य के निषेध से तीनों का निषेध हुआ हाँ। ये सिर्फ आंख सूर्य की रोशनी में रूप को देखती है तो असल में रूप सूर्य और आंख ये तीनों तीन चीज नहीं है एक ही वस्तु का अध्यात्म नेत्र है अधिदय सूर्य है और अधिभूत रूप है हृद रूपम आर्कम बपुरत्र रंध्रे इस शरीर में छेद है ना एक छेद है तो छेद में मय के साथ मिल करके जब सूर्य रहता है तब उसका नाम आंख है और आसमान में छिटक करके हमसे अलग रहता है तब उसका नाम देवता है और जब वो रूप में दिखाई पड़ता है तब उसका नाम अधिभूत है तो रूप सूर्य और आंख ये तीनों तीन चीज नहीं है ये तीनों तूल है वो तूल है माने कार्य है रुआ है रुआ और मूल क्या है तो मूल इनका ईश्वर है और रूप नेत्र और सूर्य तीनों की समष्टि ईश्वर में है ऐसे सबका लेना अलग अलग कान दिशा और शब्द त्वचा वायु और स्पर्श जिहबा रस और बर्फ नासिका गंध और अश्विनी कुमार ये सब देवता इंद्री और विषय इन तीनों की समष्टि जो है ना समष्टि है ना उस समष्टि से उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है और व्यस्ती से उपहित चैतन्य का नाम जीव है अलग से सूर्य जीव है अलग से रूप में भी जीव हो सकता है अलग से शरीरधारी भी जीव है लेकिन तीनों जिसमें एक हैं एक हो जाते हैं उसका नाम ईश्वर है और जिसमें ये एक और अनेक का भेद बिना हुए भाजता है जिसमें व्यस्ती और समष्टि माने देश का छोटापन और बड़ापन है ना जिसमें प्रलय काल और सृष्टि काल और जिसमें और जिसमें ये ब्रह्मांड और अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें भास रहे हैं तो इतने देश में जो चैतन्य है उसका नाम ईश्वर ये जिसमें ये देश और काल और वस्तु का परिच्छेद जिसमें कल्पित है उस अधिष्ठान का नाम ब्रह्म परंतु जो सर्व का अधिष्ठान है वही देह का भी अधिष्ठान है जो सर्व का अधिष्ठान है ये धरती जिसमें है ना उसी में देह भी है ये आकाश जिसमें है उसी में हमारे मुंह का पोलापन है हम ग्रास डालते हैं तो मुंह में जगह है कि नहीं जीभ और तालू के बीच में जगह है कि नहीं जगह है ना तो इस मकान में जैसी जगह है और मकान के बाहर जैसी जगह है वैसे तालू से घिरी हुई भी जगह है तो वो चिदाकाश जो हमारे हृदय हृदयाकाश में है हृदयाकाश जिसमें प्रतीत होता है कल्पित है है ना और ये महाकाश जिसमें प्रतीत होता है कल्पित है और चित्ताकाश जिसमें कल्पित होता है प्रतीत होता है है ना तो ये जो हृदयाकाश है ये अध्यात्म है वो हृदयाकाश अध्यात्म है और ये बाहर ये भूताकाश है भूताकाश हाँ। और जिसको वासना में जो आकाश भेज जो आकाश होता है ना तक हाँ। आकाश और ये तीनों की समष्टि जिसमें है उसका नाम ईश्वर है ना और तीनों का प्रलय जिसमें है सो ईश्वर तीनों का उदय जिसमें है सो ईश्वर तीनों का विलय जिसमें है सो ईश्वर है और उदय विलय दोनों जिसमें कल्पित है ना और इससे परे भी है और इनमें भी है इनके होने पर भी है और न होने पर भी है है ना बोलता हुआ भी है और चुप भी है करता भी हुआ भी है और शांत भी है पर ब्रह्म परमात्मा की व्यवहार छोड़ के परमात्मा है सो बात नहीं ये तो बिल्कुल कल्पना ही नहीं करना न तत्र सूर्यो भावी न चंद्र तारकम इनकी रोशनी में देखने का नहीं है और इनकी रोशनी से वो नहीं दिखता है और चंद्रमा का अर्थ होता है मन और तारे का अर्थ है सारे संकल्पों सारी वृत्तियां चेतको नेमा विद्युतो भांति और शक्ति से जहाँ प्रकाश का संबंध है वहाँ विद्युत और कुतोय अग्नि ही बाप का जहाँ संबंध है ना वक्तव्य जिसका हम वर्णन कर रहे हैं और बात माने जिहवा और जिस अग्नि की उष्णता से जिहवा बोलती है ये त्रिपुटी हो गई अध्यात्म अध्यात्म है वाक और अधिदैव है अग्नि और अधिभूत है वक्तव्य जिसके बारे में हम बोलते हैं और बांग मनसा गोचर जहाँ वाणी की पहुँच नहीं मन की पहुँच नहीं ऐसा जो सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम स्थूल सूक्ष्म की कल्पना का अधिष्ठान और प्रकाशन है सूक्ष्म और स्थूल की कल्पना जिसमें सत्ता शून्य और प्रतीयमान है वो सब तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम एक प्रकाश ने एक खोल ओढ़ ली एक जैसे एक बल्ब हो ना बल्ब पर कोई खोल ओढ़ा दी जाए शंकराचार्य ने वैसा दृष्टांत दिया है एक दीपक जल रहा है और जलता हुआ दीपक घड़े में रख दिया गया और घड़े में पांच छेद कर दिए गए अरे समझो भाई एक बिजली है उसका कनेक्शन एक घर में दे दिया गया उसमें एक जंत हीटर है गर्मी दे रहा है एक ठंडा करने वाला जंत है एक एयर कंडीशन करने वाला यंत्र है एक रोशनी देने वाला यंत्र है एक रसोई पकाने वाला यंत्र है है ना तो यंत्र का खोल ओढ़ करके बिजली जो है वो वहाँ वहाँ वो वो काम करती दिखती है, है ना? वो चूल्हे में पकाती है और बल्ब में रोशनी देती है पंखे से हवा फेंकती है एयर कंडीशन से ठंडा करती है हीटर से गर्म करती है तो वो रेडियो में से गाना भेजती है है ना शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक ही बिजली सब दे रही है तो ये तो खोल का भेद हुआ कि बिजली का भेद हुआ मशीन का भेद हुआ ना बिजली का भेद नहीं हुआ अब आप ये कल्पना करें कि असल में खोल नहीं है है ना वो ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार हो गया है जहाँ जंत्र अलग से जरूरत की जरूरत नहीं पड़ती है ना जैसा हमारा संकल्प हो बिजली वैसे ही काम करे शरीर न हो तो शरीर भी तो एक यंत्र है ना शरीर न हो केवल वासना और बिजली दोनों मिलके काम करें ऐसा हो रहा और फिर ऐसी कल्पना करो कि वासना न हो बिजली हो वही यंत्र बने वही वासना बने और वही सब बन के दिखाई पड़े वो ईश्वर तरीकी होगी हो है ना और बोले बनना बनाना कुछ नहीं बाबा ये तो सब ज्यो का त्यों है ज्यो का त्यों है ऐसा अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार ना कछु हुआ न है कछु ना कछु हो अनहार अनुभव का दीदार है ये सब अनुभव की दृष्टि है अनुभव ही दृश्य है अनुभव ही दर्शन है अनुभव ही दृष्टा है अनुभव की झांकी है अनुभव का दीदार है अनुभव का दीदार है अपना रूप अपार ना कछु हुआ न कछु न कछ हो अनहार अनुभव का दीदार है तो समय भानतम अनुभाति सर्वाम इस स्वयं प्रकाश आत्मा की दीप्ति से ही सब कुछ भाग रहा है सब कुछ वही है और दीप्ति भी वही है तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति नारायण ऐसी ऐसी अद्भुत रीति है पांच मत इसके संबंध में है एक तो कहते हैं कि है और भाषता है है पहले भूतवा भाभी रो करके तब भागता है एक मत है भागवा भवती पहले भागता है फिर है मालूम पड़ता है पहले कुछ मालूम पड़े तब न कहेंगे कि है, है? मालूम न पड़े तो है कहाँ से बोलेंगे एक कहते हैं कि है तब न मालूम पड़ता है देखो बोलने का ढंग है बोले खड़ा है इसलिए मालूम पड़ता है अरे मालूम पड़ता है इसलिए है भाई है अब इसमें कौन आगे कौन पीछे तो तीसरे मत ने कहा कि ना बाबा होना और मालूम पड़ना ये दोनों साथ ही साथ मालूम पड़ता है ये संपूर्ण नास्तिकों का मत है वो मार्क्सवादियों का चार वाक्यों का है ना सब का मत है ये पहले पहले अर्थ है इसीलिए देखो पैसे ही उनके मत में सर्वस्व है और पैसा और पैसे का दो है ना यही उनके मत में सर्वस्व है अर्थ अर्थक प्रधान अर्थक प्रधान दृष्टि है मार्क्स की फैसले की जो जरा द्वैतवादी वो कहते हैं कि सत्ता तो है जड़ सत्ता है उसमें से चेतना की उत्पत्ति होती है और संपूर्ण आस्तिकों का मत है कि चेतन सत्ता है उससे जड़ सत्ता उत्पन्न होती है ईसाइयों का भी यही मत है मुसलमानों का भी यही है आर्य समाजियों का भी यही है है ना चैतन्य सत्ता चैतन्य सत्ता है उससे जड़ सत्ता उत्पन्न होती है आप देखो जड़ सत्ता और चैतन्य सत्ता जड़ मालूम पड़ता है और चेतन को मालूम पड़ता है इसलिए दोनों सही हैं बोला ये मत कहता है सांख्य का है न्याय का है योग का है और जैन मत है यही मत है जैन मत भी यही है बोला चेतन भी सही है और जड़ भी सही है दोनों है इसमें न जड़ से चैतन्य की उत्पत्ति हुई है न चैतन्य से जड़ की उत्पत्ति हुई है उत्पत्ति किसी से किसी की नहीं हुई है जड़ परंपरा भी सत्य है और चैतन्य परंपरा भी सत्य है अच्छा अब चौथा मत देखो क्या मजेदार है हैं? देखो न सत्ता तो न जड़ की है न चेतन की है सत्ता नाम की चीज ही नहीं है केवल मालूम पड़ना है मन भान मात्र है विज्ञान मात्र है है ना और विज्ञान भी क्षणिक है है ना उसमें से उसमें भी कोई सत्ता विज्ञान में सत्ता नहीं है मालूम पड़ना तो है परंतु उसकी सत्ता नहीं है बोले है क्यों बोलते हो तो है तुमको बताने के लिए बोलते हैं न जड़ सत्ता है न चेतन सत्ता है केवल मालूम पड़ता है और सो भी मालूम पड़ना भी क्षणिक है काल काल सिर पर सवार हो गया हो इसका मतलब है कि काल जो है ना क्षणिकता बिना काल के कहाँ बातेगी तो ये कालवादी मत हो गया जो वस्तु को क्षणिक मानेगा वो कालवादी होगा वो है ना और जड़ सत्ता से जो उत्पत्ति मानेगा वो जड़वादी होगा और चैतन्य सत्ता से जो उत्पत्ति मानेगा वो ईश्वरवादी होगा क्योंकि कारण है ना ईश्वर ईश्वरवादी चैतन्य सत्ता से जड़ सत्ता की उत्पत्ति मानता है और जड़वादी जड़ सत्ता से चैतन्य सत्ता की उत्पत्ति मानता है है ना और उभयवादी उभयार्थवादी को उभयवादी दोनों को सत्य मानते हैं और मिथ्यावादी शून्यवादी विज्ञानवादी दोनों को मिथ्या मानते हैं वेदांत जो है वो देखो बहुत विलक्षण शून्य नहीं है क्योंकि अपना आपा है वो शून्य नहीं है वो क्षणिक नहीं है क्योंकि क्षणिक क्षण का साक्षी है क्षणिकता का साक्षी है वो क्षणिक नहीं है, हैं? और दो सत्य नहीं है क्योंकि दोनों का अधिष्ठान एक है और दोनों का प्रकाशक एक है इसलिए दो सत्य नहीं है और जड़ सत्ता से चेतन और चेतन सत्ता से जड़ की उत्पत्ति हुई ये उत्पत्ति और प्रलय ये तो रूप परिवर्तन है रूप परिवर्तन का नाम उत्पत्ति नहीं है कोई नवीन उत्पत्ति नहीं है ये पांचवा मत हुआ है ना पांच पांचवा हो गया ना जड़ सत्ता से चेतन सत्ता की उत्पत्ति हाँ, ये नास्तिक और चेतन सत्ता से जड़ सत्ता की उत्पत्ति ये आस्तिक हाँ, वेदांत मत ये कार्य कारण भाव नहीं है वो इससे विलक्षण है और दोनों सत्य ये जैन शांत जोग न्याय वैशेषिक है ना और दोनों शून्य अथवा विज्ञान क्षणिक ये बौद्ध महाराज और नारायण शून्य नहीं साफ और प्रकाश्य नहीं प्रकाशक सत्यत और मिथ्या तो दोनों का प्रकाशक दोनों का अधिष्ठान आत्मा ब्रह्म हे भगवान और उस उत्पत्ति कार्य कारण भाव नहीं उसका कारण वो नहीं उसका कारण वो नहीं उसका कार्य वो नहीं उसका कार्य वो नहीं तब दोनों सत्य बोले दोनों सत्य नहीं कहता तब दोनों में क्या बोले दोनों में क्या नहीं क्या तो प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न ब्रह्म तत्व जो है है ना आत्मा और ब्रह्म एक है ना और इसमें और जो कुछ है सो सब बोले अपना विलास आत्म विलास आत्म विलास यहाँ तक कि जिसको धर्म धर्म कहते हैं ना वो भी आत्मविलास है आत्मविलास जो जिसको रागत द्वेष कहते हैं वो भी आत्मविलास है जिसको सुख दुख कहते हैं जिसको सुख दुख कहते हैं वो भी आत्मविलास है जिसको समाधि विक्षेप कहते हैं वो भी आत्मविलास है जिसको संसार में भला बुरा बोलते हैं ना नारायण तो वो भी आठों गिलास हाँ, तो बोले कि फिर तो सब लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे का ये ब्रह्मज्ञ की दृष्टि है ये दृष्टि अज्ञ को कभी प्राप्त ही नहीं हो सकती वो भ्रष्ट कहाँ से होगा है? वो भ्रष्ट कहाँ से होगा ये दृष्टि तो अज्ञानी को प्राप्त ही नहीं हो सकती तो वो भ्रष्ट कहाँ से होगा है ना ये भ्रष्ट और शिष्ट है ना ये भी आत्मविलास है है ना अरे आप जिंदगी भर में कितनी बार आप शिष्ट होते हैं और कितनी बार भ्रष्ट होते हैं आप लोग माफ करना अगर शिष्ट ही शिष्ट जिंदगी भर रहे हो तो हम अपना आरोप वापस लेने को तैयार हैं बोला अगर आपका मन हमेशा शिष्ट रहा है और आपका शरीर हमेशा शिष्ट रहा है और आपकी बुद्धि हमेशा शिष्ट रही है, है तो आपका आत्मा भी शिष्ट है लेकिन यदि आपका शरीर भी शिष्ट और भ्रष्ट दोनों रहा है, हैं? आपकी इंद्रियां भी शिष्ट और भ्रष्ट दोनों रही हैं, आपका मन शिष्ट और भ्रष्ट दोनों रहा है तब हम आपके मन में चाहते हैं है आपकी बुद्धि भी कभी अन्याय का समर्थन करने में लगी तो भ्रष्ट हो गई ना तो आपकी बुद्धि ही शिष्ट और भ्रष्ट दोनों रही है तो आप माफ करना आप शिष्टता और भ्रष्टता दोनों में एक ही हो है ना तो शिष्टता का अभिमान मत आने दो और भ्रष्टता के कारण ग्लानी मत आने दो ये शिष्टता का अभिमान भी तुमको बहुत दुख देता है, है? और भ्रष्टता जन्य ग्लानी भी तुमको बहुत बहुत दुख देती है ये दोनों चीज दुख देने वाली है अपनी अपने दुख को पहचानो तुम्हारे मन में जो दुख है वो अपनी शिष्टता की भ्रांति के कारण है अथवा अपनी भ्रष्टता की भ्रांति के कारण है दो ही कारण से दो ही कारण से अपने मन में दुख है और ये अपना जो आत्मा है वो है ना ये न शिष्ट है और ये न तो और ये न तो भ्रष्ट है ऐसा निर्द्वंद ऐसा स्वतंत्र ऐसा राग द्वेष विरहित ऐसा पक्षपात शून्य है ना जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख यदि प्राप्त हो सकता है तो इस ब्रह्म ज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है है ना अच्छा अब आज इतना